राजकन्या जो थी उसने भूल से जल्दी में देवयानी की धोती लेकर के पहन ली अपना समझ करके और देवयानी आई तो उसने देखा कि उसने मेरी धोती पहन ली तो देवयानी बोली वो अस्या दास्या आयोजन करूं किस दासी का कर्म को तो देखो कैसा काम किया है मेरे पहनने के योग्य जो वस्त्र है उसने इसने पहन लिया यज्ञ हवि सुनी वो जैसे कोई कुतिया यज्ञ की यज्ञ का हवि लेकर के चली जाए यज्ञ का हविष्य उठा ले जैसे वो अपराध भी समझा जाता है ऐसे मेरे पहनने का जो वस्त्र है इसने पहन लिया अहो वयम ब्राह्मण अरे एक तो हम ब्राह्मण जो परमात्मा का मुख माने जाते हैं और दूसरे उसमें भी हम भृगुकुल के और फिर तीसरी बात कि तेरा पिता मेरा मेरे पिता का शिष्य है तो बता तू दुष्टे मऊ वस्त्रम कथम धुत मेरी धोती तेने कैसे पहनी जब उसको ऐसा धमकाया तो वो भी छत्री कन्या थी वो बोली अरे भिकारिन तू ऐसी बनभर के बात बोल रही है हमारे घर के चकोर की आशा करती रहती है? है? और उसने फटकारा और लेकर के उसकी वो धोती छीन करके और उसे जट से भी कुएं में ढके और अपनी सखियों को लेकर के चली उधर तो से ययाति मार रही थी ययाति आ रहे उन्होंने उस कुएं में पड़ी हुई उस लड़की का जो शब्द सुना उसमें देखा अरे एक लड़की पड़ी थी तो उसको वस्त्र भी नहीं तो राजा ने अपना चदरा दिया दुपट्टा दिया उसने उस दुपट्टे को पहन लिया तस्मय उत्तरीय वस्त्र दत्ता पाणिना पानी निगरे अपना उत्तरी वस्त्र देकर के उसका हाथ पकड़ के कुएं से बाहर निकाला तब देवयानी बोली कि राजन अब आपने हमारा हाथ पकड़ लिया तो अब ये हाथ इसको दूसरा नहीं पकड़ सकता तदा देवयानी प्रेम दामिया कमा हे राजन तया में प्राणित देवता और तुमने मेरा पानी ग्रहण किया है बस पानी गृह की भारिया हो गई तो अब ये तो ईश्वर का तो कोई संबंध है इसमें मनुष्य का बात क्या चलेगी इसमें क्या जाने चाहिए तो अरे मैं क्षत्रिय हूं तू तो ब्राह्मण कन्या है ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को कच्छ का साप है बृहस्पति का पुत्र जो कच्छ है उसने मुझको साप दे दिया कि तुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा तो मुझे ब्राह्मण को तो मिलना ही नहीं है तो राजन फिर इसमें क्या फर्क है तो भगवान की इच्छा है कचरे क्यों साफ दे रखा है उसकी ये कथा है कि बृहस्पति जी के पुत्र थे कच्छ बृहस्पति जी ने अपने पुत्र को भेज दिया कि जाओ तुम संजीवनी विद्या पढ़ गए शुक्राचार्य से हमारे यहां संजीवनी विद्या नहीं है मृतक को जीवित करने वाली कला हम लोगों को नहीं आती जाओ उसे पढ़ के आओ कि पिताजी हो तो आपकी शत्रुता है उनसे तो हमें कैसे पढ़ाए जाएंगे अरे ऐसे ब्राह्मण दयालु होते हैं तुम उनकी सेवा करना तुमको योग्य समझ के पढ़ाएंगे तो पक्ष उनसे संजीवनी विद्या पढ़ने चले गए उनकी बड़ी सेवा करते थे उन्होंने उसे अधिकारी योग्य समझ कर उसको संजीवनी विद्या पढ़ा रहे थे और दैत्यों को पता चला कि ये शुक्राचार्य का एक बृहस्पति का पुत्र इसको हमारे गुरु जी संजीवनी विद्या पढ़ा रहे हैं तब तो कच्छ को लिए मार करके उसे जंगल में डाले हैं और <coughs> समय पर वो नहीं आया जब कच्छ शुक्राचार्य ने देखा करीब वो कहां गया अरे इन दुष्टों ने मार के डाल दिया तो उस कच्छ को जाकर के फिर वहां जीवित कर लिया और फिर पढ़ाने लगे उन्होंने कई बार और वो शुक्राचार्य के घर में रहता और उसका इस इनकी जो पुत्री है देवयानी उसका भी उससे प्रेम हो गया वो पशु उनको बहुत अच्छा लगता था देवयानी को ये बड़ा सुशील है तो एक दिन उन्होंने अपने पिताजी का पिताजी मेरा तो इसके साथ विवाह कर उन्होंने कहा कच्छ से कहा कच्छ ने कहा महाराज मैं तो इसको अपनी बहन मानता हूं मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगा तो जब उसने साथ दिया अरे जय तू हम, फिर हमारे पिता से जो विद्या पढ़ी है तेज निष्फल हो जाए तो उसने कहा अरे हम हम हमारी निष्फल हो जाए पर हम जिसको पढ़ा देंगे उसको सफल रहेगी अपने आप आशीर्वाद भी देंगे तो ये और उसको फिर ये उसने कह दिया कच्छ ने कहते हैं जो हमको कहा कि तेरी जो हमने इतने परिश्रम से तो पढ़ा और तेने उसको कह दिया कि तुम्हारे पिता से ये विद्या तेरी निष्फल हो जाए तो जा तेरे को ब्राह्मण पति नहीं मिलना महाराज मुझे कच्छ का साप लगा हुआ है तो फिर राजा ने उस बात को स्वीकार कर लिया और देवयानी ने आकर के शुक्राचार्य से कहा महाराज इस, इस राजा की लड़की जो है तो इसने मुझे कुआ में गिर करके आई है वो तो आप अकस्मात राजा महायाती आ गए उन्होंने मुझे निकाल दिया मेरे तो प्राणांत ही होगा तो अब इसके यहां राज्य और उसने हमको ऐसे सिखाया है कि भिकारे में है हमारे टुकड़ों तो की प्रतीक्षा करती है इसके यहां नहीं रहना चाहिए तो शुक्राचार्य जब अपनी लड़की को लेकर चल दिए अब बृहस्पतिवार को जब ये पता चला गुरु जी रुष्ट होकर जा रहे हैं जाके चरण पकड़ लिए महाराज क्षमा करो हम तो, तो जाओ फिर हमारी बेटी को मनाए लो तो हम रुक जाएंगे तो देवयानी के चरण पकड़ लिए कि देवी या तू हमारे ऊपर करदा कर तो, तो हम ऐसे रुक सकते हैं कैसे जा में विवाहित होकर के जाऊं वहां तेरी लड़की मेरी दासी बन करके जा रही अच्छा आकर करके उन्होंने अपनी लड़की से कहा बेटी तू हमारी रक्षा कर आप जैसे है नहीं गुरु जी अगर चले गए तो फिर हमारा क्या है फिर हमारे पर तो उन्हीं की कृपा से तो हम यहां जीवित तो फिर वो देवी आनी ये आती के यहां गया तो दासी के रूप में वहां सर्विष्ठा उसके साथ शुक्राचार्य ने कह दिया इसके कल्प पर खटिया खा खटपा पर मत जाना ऐसा और देवयानी के दासी के रूप में गई ना हूं ये राती थी हाँ तो देवयानी के दो पुत्र हुए यदु और तुर्वसु और शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए ध्रुव अनु और पुरु देवयानी ने देखा कि मेरे दो यज तो तीन हो गए जड़ पुरुष होकर के जब पिता गए और तो पिताजी राजा राजा ने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया मेरे दो पुत्र हैं तो उसके तीन हैं यह शुक्राचार्य ने उसको साफ दिया अरे जाति बुद्धा हो वृद्धा जरावस्था तेरे को तो युवावस्था तरुण अवस्था थी ये आती थी साप लगते ही सारे शरीर में झुलियां पड़ गई शरीर कांपने लगा चला नहीं जा आंखों से कम डूबने लगा एक साथ वृद्धावस्था आ गई और पता महाराज ये तो ये दशा जब मेरे शरीर की हो गई है ये तो ये साथ तो तुम्हारी पुत्री को भी अच्छा नहीं लगेगा क्या इस रूप में अच्छा लगूंगा मैं कृपा करो कृपा शुक्राचार्य ने फिर कहा अच्छा, अच्छा इस बुढ़ापे को जो बदल ले तो उसकी उसको उसकी जवानी ले लेना बुढ़ापा उसे दे देना ये अच्छा तो उन्होंने सबसे बड़े पुत्र को बोला यदु को और कहा लोग भाई बेटा तुम अपना युवावस्था हम थोड़े गुरु को हमको दे दो और हमारा बुढ़ापा ले लो यदु बोले ना नोत सहेज शास्त्रा तुम अंतरा प्राप्त करो अर्जित पास सुभंग्राम्यम जो वैकृष्ण लेख पुरुष पिताजी तुमको ये अकस्मात साप के कारण जो जो बीच में तुमको दुर्दावस्था प्राप्त हुई है मैं अपनी युवावस्था से बदल बदलूंगा नहीं मैं आपकी इस अवस्था को नहीं स्वीकार करूंगा क्योंकि जब तक व्यक्ति संसार के सुखों को विषय सुख को नहीं जान लेता तब तक उसको वैराग्य नहीं होता अभिदिता सुखम ग्राम्यम वैकृष्णम वैश्वपूर्व और फिर का कारण ने यही विचार किया है कि यदु ने यह सोचा कि अगर मेरी युवावस्था लेकर के बद्री नारायण में तप करने जाता तो भी ठीक है मेरी युवावस्था चलो तो तपस्या के काम में चाह है पर मेरी युवावस्था लेकर के विषयों का ही तो उपभोग करेगा मेरा पिता तो उसने मना कर दिया फिर सबसे पीछे चोरू को बुलाया छोटा बुलाया कि बेटा तुम्हारे सब भाई जैसे यहां पर गए हैं तैसे तो तुम मरण मरण मत करो तुम्हारा बुढ़ापा ले लो अपनी स्थान को दे दो तो उन्होंने कहा पिताजी उत्तम चिंतन दिया उत्तम पुत्र तब होता है पिता जब तक कह भी नहीं मन में ही कोई बात हो तभी पूरी कर दे उत्तम तो पुत्र वो होता है और प्रोत्कारी तो मध्यम कहने से उस आज्ञा को पालन करे तो थर्ड दूसरी खिलाफ दूसरी कोटि का व्यक्ति है और काम करे और अश्रद्धा से करे वो थर्ड क्लास का है तीसरी कोटि का है और आज्ञा का पालन करे ही नहीं वो तो माता पिता का मनमूत्र के समान है पुत्र का एक ऐसा कह करके पिता की वो बुढ़ापा ले लिया अपनी विवावस्था दे दी एक हजार वर्ष तक फिर उसने वो संसार के विषयों को भोगा और अंत में फिर उसको वैराग्य दिया हरे यत्र सिद्ध्याम हृदय हृदयम पशवस्त दिया न दूयंत मन प्रीति सत्ताम हतस्ते न जातकाम प्राणाम उपभोजन शांति हर्षा कृष्ण दत्त में भूए वेदाध वर्ग हजार वर्ष के बाद जब तृप्ति हुई उन विषयों से तब कहता अरे विषय भोगने से ये कामना पूरी नहीं होती ये तो बढ़ती रहती है अग्नि में जैसे आवती दावा और तीव्र होती है ऐसा कहकर के और अपने बुढ़ापा उससे ले लिया अपनी उसकी युवावस्था अपने पुत्र को दे करके और राजा की जो था वो <clears throat> तदीयम भाई दत्ता स्वांग जराम जुग गए और लेकर के और फिर अपने बल को चले गए भगवान का ध्यान रहे बोलिए श्री कृष्ण भगवान और कि यदवंश में एक राजा हुए देवलूठ देवनीट उनके पुत्र हुए सूर से सूर के मार्शा नाम की पत्नी में दस पुत्र थे वसुदेव देवभाग देवश्वरा आनक संजय श्यामक कंक शमी वत्स ऐसे और सूरसेन के पांच पांच कन्याएं थी कौन प्रथा श्रुतदेवा श्रुतकीर्ति श्रुतश्रवा हाँ? राजाधिदेवी सूरसेन सूर्य अप्रज अप्रज सा कुंते सूरसेन के मित्र थे कुंती भोग उनके कोई प्रजा नहीं थी उन्होंने अपनी लड़की जो है वो उनको कुंती भोग को दे दी थी प्रथा को दे दिया था प्रथा जो है एक बार दुर्वासा जी वहां आए दुर्वासा जी की बड़ी सेवा पूजा किया और दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के उसको एक विद्या दे गए मंत्र दे गए कि लो बेटी तुम इस मंत्र से सूर्य का आवाहन करोगी तो सूर्य भगवान तुमको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे तो उसने एक दिन परीक्षा करने के लिए और उस मंत्र का जब किया सूर्य का आवाहन किया तो खास छोटी सूर्य मंडल से सूर्य भगवान उनके सामने अब तो उतर दें महाराज मैंने तो इस मंत्र की परीक्षा करने के लिए बुलाया मेरे अपराध को क्षमा करो कि नहीं नहीं अब हम आए हैं तो हमारे सहयोग से तुम्हारे पुत्र हो बस वो पुत्र का दान करके चले गए उसने प्रथा लोक भयात्म नदी तो हत्या उस बच्चे को उन्होंने गंगा में बहा दिया ताम पांड विवाह उसका विवाह प्रथा का पांडु के साथ हुआ वसुदेव के दौरवी रोहिणी भद्रा मुद्रा लोचना इला देवकी ये सात पत्नियां हैं वसुदेव रोहिणियाम बलम कदम सारणम दुर्मदम विपुलम ध्रुवम कृतानिश्च और हाँ, जगह माता वसुदेव के पौरवी नाम की जो स्त्री थी उससे सुभद्र भद्रबाहु दुर्मद भद्र हाँ, ये बारह पुत्र हुए आप वसुदेव जी के इसी पुत्र को जानते हैं कृष्ण थे कितने हैं उनके वसुदेव से मदुरायाम मदुरा नाम की जो उनकी स्त्री उसे नंद उपनंद कृतक शिवराज्य जाता बसदेव से भद्रायाम केशी वसुदेव से रोचनायाम हस्त हिमांगर हिमांगर ये इतने कितने वसुदेव से धृतदेवायाम विप्रपृष्ठ तथा शांत देवायाम श्रोतावय वसुदेव के देवकी में वसुदेवाच देवत्याम अष्टपुत्र कीर्तिमान सुषेण भद्रसेन ऋजु संवर्धन भद्र संकर्षण इस सप्त और अष्टमस्तु स्वयं हरी और सुभद्रा नाम की एक कन्या थी देवकी के इतने थे जब धर्म का अक्षय होने लगता है पाप की वृद्धि होती है उस तो समय भगवान अवतार ग्रहण करते हैं हाँ। और जो है कल कलव जनिष्यमान दुख शोक तमोदम अनुग्रह भक्तानाम सुपुण्यम व्यतनो देशा भगवान पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अपने यश का विस्तार करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं कलयुग में होने वाले जो भक्त लोग हैं उनका अनुग्रह करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं कलव जनिष्यमाना नाम दुख शोक तमोनुदन उनके दुख और शोक को दूर करने के लिए भगवान के अवतार होते हैं भक्ता नाम सुपुण्यम व्यतनो यश भगवान ने <clears throat> अपने यश का विस्तार किया सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान मथुरा में उनका जन्म हुआ जात जातो गता पितृगृहात ब्रज वेदिताथ मथुरा में उत्पन्न हुए वहां से फिर गोकुल में चले गए वहां जाकर के बहुत से राक्षसों का वध किया फिर वहां से लौट करके आए उन्होंने अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया अनेक उन्होंने यज्ञ किए अपने यश का विस्तार किया पृथ्वी का भार दूर करके और आपस में क्षत्रियों में कलह उत्पन्न करके हाँ, अर्जुन का विजय घोष करके अर्जुन को का विजय करा करके और भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए बोलिए श्री कृष्ण और परीक्षित जो है भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनना चाहता था विस्तार से और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र बस ये दो ही श्लोक में उन्होंने पूरे कर दिए अरे देख भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ फिर गोकुल को चले गए वहां जाकर के अनेक राक्षसों का वध किया और अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया अनेक उनके पुत्र उत्पन्न हुए क्षत्रियों में कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार दूर किया और अर्जुन का विजय करा करके हाँ और भगवान अपने लोग को चले गए परीक्षित ने कोई राम महाराज जिनका मैं विस्तार से यश कीर्ति चरित्र सुनना चाहता हूँ बस इतनी अब थोड़ा कर लो कीर्तन कहा अब आगे पे दस मिनट कहूंगा बोलो जी वृंदावन